इसी तरह अल्लाह ताला वही करता है आपकी तरफ और उनकी तरफ जो आपसे पहले थे अल्लाह ताला सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है